जैसा समाधान में आज का प्रश्न है दो व्यक्ति साक्षात्कार के लिए गए एक योग्य और एक अयोग्य साक्षात्कार करने वाले ने लोभ व संबंध के कारण अयोग्य को पद दे दिया अब योग्यता अनुसार जो सुख सुविधाएं योग्य को मिलनी थी वे अयोग्य को मिली और पूरा जीवन सुविधाओं में व्यतीत हुआ क्या यह उसके कर्म का फल है उसके यानी जो अयोग्य था और उसे पद मिल गया नौकरी मिल गई वह अन्य कुछ ये फल है या कुछ और है और ऐसे ही योग्य को ये सब नहीं मिला ये उसके कर्म का फल है तो कर्म और कर्म फल कर्म जो हम करते हैं वो हमारे लिए कर्म कहलाता है उससे हमारा कर्माशय बनता है और कर्म का फल कोई और देता है या वो व्यक्ति स्वयं भी लेता है जो कर्म का फल देता है उसे सामने वाले के कर्म का पता भी होता है इसने ये कर्म किया और ये फल मैं दे रहा हूं यदि देने वाले को कर्म का पता ना हो सामने वाले के तो फल नहीं कहलाता है न्यायाधीश को यदि पता ही नहीं है कि सामने वाले ने क्या कर्म किए हैं और उसने कुछ भी दे दिया दंड या पुरस्कार उसे फल नहीं कहते पहली बात कर्म जिसने किया है उसी को मिलना चाहिए फल जो फल देने वाला है उसको पता होना चाहिए कि इसने ये कर्म किया है और वो उचित मात्रा में दिया जाए यहां इस उदाहरण में इस प्रश्न में जिस अधिकारी ने नियुक्ति दी नौकरी दी पद दिया क्या उसको इन दोनों के कर्म पता है कि इनके पहले के कोई कर्म ऐसे हैं कि इसको तो मैं नौकरी दूं क्योंकि इसके पहले के कर्म अच्छे हैं अभी तो अयोग्य है लेकिन पहले के कर्म उसके अच्छे हैं इसलिए नौकरी दूं तो उसको नहीं पता है लेकिन उसने नौकरी दे दी पद दे दिया अब इसको अयोग्य का कर्म का फल नहीं कह सकते क्योंकि देने वाले को पता ही नहीं है इसी तरह से योग्य को जो नौकरी नहीं मिली तो उसको दंड मिला तो नौकरी देने वाले को पता नहीं है कि इसने कौन सा पाप कर्म किया था गलत कर्म किया था इसलिए इसको नौकरी नहीं दूंगा या नहीं मिलनी चाहिए तो नौकरी देने वाले ने या मना करने वाले ने जो भी किया वो किसी के कर्म का फल नहीं दिया गया था वो उसने अपनी तरफ से एक कर्म किया जिस पद पर वो बैठा था और उसका उत्तरदायित्व था कि योग्य व्यक्ति को ही नौकरी दे वो उसने पूरा नहीं किया तो ये उसका स्वयं का पाप कर्म हो गया और इसके किए गए पाप कर्म का फल किसी दूसरे को मिले ये भी नहीं होगा योग्य व्यक्ति को जो नौकरी नहीं मिली वो अधिकारी के गलत कर्म का फल नहीं है फल कह ही नहीं सकते क्योंकि कर्म तो किया अधिकारी ने अन्याय पक्षपात करके पद नहीं दिया और उसका फल दूसरे को मिले कर्म फल ऐसा नहीं होता है जिसने किया उसी को मिलेगा तो दोनों ही पक्षों में ये कर्म का फल नहीं है कई व्यक्ति यहां पर फिर ये बात रखते हैं कि ठीक है उस अधिकारी ने तो गलत कर्म किया अन्याय किया लेकिन इन दोनों का कर्म ऐसा ही था कर्माशय भाग्य ऐसा ही था कि इस अधिकारी से ऐसा हो गया कर्म फल देने वाला परमात्मा तो परमात्मा ने अधिकारी से ऐसा करवा दिया क्योंकि जो भी कुछ मिल, मिलता है हमें वो हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलता है इसलिए जिसको नौकरी मिल गई वो भी उसके कुछ कर्म रहे होंगे तभी मिली है अगर कोई ऐसा मानता है ऐसा कहता है तो उसमें बड़े दोष आते हैं यदि इन दोनों के कर्माशय के कारण अधिकारी ने ये निर्णय लिए तो इस अधिकारी की कर्म करने की स्वतंत्रता वहां नहीं थी क्या कर्म की स्वतंत्रता का सिद्धांत वहां खंडित होता है इस अधिकारी ने अपनी स्वतंत्रता से अन्याय पूर्वक निर्णय किया ये इनके कर्मों के अनुसार यदि हुआ हो तो अधिकारी का कोई दोष ही नहीं है क्योंकि अधिकारी तो मजबूर है वो तो कर्मों के अनुसार पिछले भाग्य के अनुसार उसने निर्णय कर दिए ऐसे तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी का पक्षपात करने वाले अधिकारी का दोष भी नहीं माना जा सकता है तो कर्मफल की व्यवस्था बिगड़ेगी कर्म की स्वतंत्रता नहीं रही उसने जो किया उसको आप गलत भी नहीं कह सकते ये दोष आएगा कोई कहे कि नहीं परमात्मा ने ऐसा करवाया तो परमात्मा पे भी दोष आएगा कि क्या परमात्मा अन्याय पक्षपात का समर्थन करेगा क्या परमात्मा किसी मनुष्य से अन्याय पक्षपात कराएगा और यदि परमात्मा ने ऐसा करवाया भी है तो वो व्यक्ति कठपुतली हो गया उसकी कर्म की स्वतंत्रता समाप्त हो गई इसलिए इनको उन दोनों व्यक्तियों के कर्म का फल नहीं माना मानना चाहिए वो उनके कर्म का फल नहीं है उन्होंने पूछा फिर क्या है ये ये अधिकारी के द्वारा किया गया अन्याय है अधिकारी ने दोनों के साथ अन्याय किया है जिसको नौकरी दे दी अयोग्य होते हुए उसके साथ भी अन्याय है और योग्य होते हुए जिसको नहीं दी उसके साथ भी अन्याय दोनों के साथ अन्याय किया है धन के कारण या और किसी संबंध के कारण से और ऐसा करने से समाज में विकार आएंगे हानियां होंगी लोगों में ये प्रवृत्ति होगी कि हम भले ही अयोग्य हों हम धन दे करके और संबंध बता करके कुछ प्राप्त कर लेंगे अन्य भी इसी प्रकार का अन्याय करेंगे या करवाएंगे इससे समाज में विकार आएगा इसलिए भी ये गलत है तो इसको हम अन्याय ही कहेंगे और इसकी पूर्ति वो परमात्मा की तरफ से होगी जिसने अयोग्य होते हुए भी नौकरी ले ली पैसा देके या संबंध इत्यादि बता करके अब वो जीवन भर सुख सुविधाएं भोग रहा है तो योग्यता से अतिरिक्त उसने जितना भोगा है वो सब उसका पाप कर्म है और जो उसका पुण्य कर्माशय रहा है पहले का उतना उसका कम हो जाएगा अन्याय किया दूसरे को दुख दिया कष्ट दिया उसका दंड मिलेगा वो अलग और जिस व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली है उसकी क्षतिपूर्ति परमात्मा की तरफ से होगी या तो उसके पिछले कर्माशय में जो पाप कर्म हैं वो भोगे में मान लिए जाएंगे कम हो जाएंगे अथवा परमात्मा के द्वारा उसको नई सुविधाएं नए अवसर आगे प्रदान किए जाएंगे इस रूप में परमात्मा का न्याय होगा जो पीड़ित हुआ है उसको जिंदगी भर नौकरी ना मिले ये एक स्थिति हो सकती है अभी नौकरी नहीं मिली और उस कारण से पूरी जिंदगी नौकरी नहीं मिली उसको एक है कि उस समय नहीं मिली लेकिन दूसरी कोई ना कोई मिल गई उससे हल्की मिल गई इत्यादि तो जितनी उसकी हानि हुई है उसके हिसाब से पूर्ति परमात्मा करेगा कर देगा तो इस विषय में इतना हुआ आप लोगों को कुछ और पूछना हो तो पूछ सकते हैं सोमदेव जी हो गया कश्यप जी उसको विद्वान क्यों बनाया तो पहले से पापों से बचने के लिए तो अर्थात उसको पापों से बचाए तो उसको फल मिलेगा यदि इसका फल मिलता है तो मेरे द्वारा एक चूहा मारा गया और वो चूहा मारा गया मुझे पता था कि इसको मैं मारता नहीं ये आप नया प्रश्न कर रहे हो पाप का कर रहा हूँ पाप का तो ठीक है लेकिन नया प्रश्न है ये जो अभी प्रश्न था इसमें जो मैंने बात रखी इसमें अगर कुछ पूछना है तो पूछिए उसको बाद में देखेंगे हाँ इसी कर्म का फल क्यों नहीं मान लीजिए उस योग्य व्यक्ति ने पूर्व जन्म में इसी प्रकार गलत काम किया हो और उसी का दंड ईश्वर ने दिया हो हम्म। तो आपके कथन में जो बात आई ये दंड किसने दिया ईश्वर ने दिया ईश्वर ने कैसे दिया अधिकारी के माध्यम से तो अधिकारी कर्म करने में स्वतंत्र नहीं था परमात्मा ने उससे ये गलत कार्य या ये नौकरी न देना करवाया ऐसा कहेंगे ना तो वो व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र नहीं था यदि परमात्मा ने करवाया ऐसा मानेंगे तो वो उसका दोष भी नहीं है और उसको दोषी ठहराया भी नहीं जा सकता इस आधार पे क्या निकलेगा कि पूरे समाज में जब जब भी इस तरह से नौकरियां दी जाएंगी सब जगह यही मानना पड़ेगा आपको रिश्वत लेकर के सैकड़ों नौकरियां हजारों नौकरियां दी जाती हैं संबंध से दी जाती हैं जहां जहां भी हो रहा है ये किस लिए हो रहा है उनका पुण्य है और जो वंचित हो गए उनका कोई पाप कर्म था तो ये सब कुछ ठीक मानना होगा कोई भी गलत नहीं होगा सबको हमें ठीक मानना होगा और जिसने किया है ये वो उसका भी किया हुआ नहीं माना जाएगा ये परमात्मा ने उससे करवाया है वो क्या करेगा तो कठपुतली की तरह से है तो ये दोष तो मैंने बताए थे पहले इसको उनके कर्मों का फल कैसे कह सकते हैं और आपने एक संभावना रखी है कि हो सकता है ईश्वर ने कराया हो पहली बात तो इसका कोई प्रमाण होना चाहिए कि ईश्वर ने करवाया है किस आधार पर कह रहे हैं हम ये शब्द प्रमाण है कोई अनुमान प्रमाण है क्या प्रमाण है और वैसे ही हमारी ऊहा है तो जो दोष आ रहे हैं वो मैंने आपके सामने रखे और केवल इसी में ही नहीं लगेगा ये फिर एक चोर ने किसी के यहां चोरी कर ली बोले मोहल्ले में तो दस घर थे इसी के घर चोरी क्यों हुई <laughs> क्या उतर जाएगा क्योंकि इसका पाप कर्म था इसलिए इसके यहां चोरी हुई समाज में ऐसा मानते हैं बहुत गलत है ये सिद्धांत ये सिद्धांत गलत है ठीक है अब बोलिए कुछ बोलना है तो बहुत होता है ऐसा गिनाने लगू तो बहुत गिना दूंगा प्रतिदिन एक शहर में करोड़ों चीजें अरबों चीजें करोड़ों चीजें होती होंगी ऐसी किसी ने कम तोला लेन देन में कुछ चूक हो गई पांच दस रुपए टिकट खिड़की पे इधर उधर हो गया हमारा आरक्षण मिलना था और पीछे से कोई आ गया जान पहचान वाला और खिड़की वाले ने वहीं से लेकर के और उसका कर दिया और पूर्ति हो गई हमारे को जगह नहीं मिली बहुत चीजें हैं गैस हमारे को मिलनी थी पेट्रोल डीजल मिलना था और न जाने कितनी चीजें हैं विद्यालय में प्रवेश लेना था जितना भी गलत कार्य होता है वो सब क्या माना जाएगा जो पीड़ित हुआ है उस गलत कार्य से अन्याय अत्याचार से पक्षपात से वो सब पीड़ित व्यक्ति के कर्म के कारण से ऐसा हुआ है और लोग वहां तक जाते हैं कि भारत गुलाम हुआ तो यहां के इनके अपने कर्मों का फल है ये आतंकवादी ने मार दिया तो इनके कर्मों का फल है अन्यायी अत्याचारी राजा हमारा बन गया है तो हमारे कर्मों का फल है युद्ध में हमारी सेना हार गई तो हमारे कर्मों का फल है देशवासियों का हर जगह यही लगेगा टक्कर हो गई तो शराब पी के कोई चला रहा है और उसने हमारी गाड़ी के टक्कर मार दी हमारे ऊपर गाड़ी पहिया चला दी हमारी टांग टूट गई हमारे कर्मों का फल है सब जगह आपको ये लगाना पड़ेगा फिर आपको उत्तर देना होगा कि यहां क्यों नहीं लगाएंगे दूसरी जगह पे वो तो सब जगह लगेगा फिर तो कहीं कोई अन्याय अत्याचार होता ही नहीं है ये मानना होगा कहीं भी अन्याय अत्याचार नहीं होता ये मानना पड़ेगा आपको क्योंकि जहां जहां हमारे साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है जिसे हम अन्याय अत्याचार कहते हैं वो आपकी परिभाषा के अनुसार उसके ही कर्मों का फल होगा अच्छा एक पक्ष में मान मान भी लें तो ये जो पीड़ित हुआ इसके किन कर्मों का फल है ये बुरे कर्मों का फल है क्या बुरा कर्म किया होगा उसने पहले इसी प्रकार किया होगा उसने किसी की चोरी कर दी होगी किसी को दंडित कर दिया होगा किसी की बाधा कर दी होगी कुछ छीन लिया होगा ऐसा ही किया होगा वहां भी फिर इसी सिद्धांत को लगाइए आई बात समझ में वहां क्या सिद्धांत लगेगा उस समय जो इसने किया था वो भी कैसे क्यों किया था क्योंकि जो पीड़ित हुए हैं उससे उनका कर्माशय था और परमात्मा ने ही इससे करवाया है तो उससे भी परमात्मा ने ही कराया था तो अब उसको किस बात का दुख दिया जा रहा है परमात्मा के द्वारा तो चक्रवत मानेंगे तो इसको आप अन्याय भी नहीं कह सकते आप अन्याय क्यों कहोगे ये तो परमात्मा करवा रहे हैं और अगर आप इसको अन्याय कहते हो तो परमात्मा अन्यायकारी कहलाएगा और क्यों चल रहा है ये अन्याय तो ठीक है फिर अन्याय चल रहा है तो चल रहा है फिर न्याय व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है पुलिस की कोई आवश्यकता नहीं है सेना की कोई आवश्यकता नहीं है आपको अपनी सुरक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है होगा जो हो जाएगा और ये तो कष्ट और दुख के लिए है अगर आप यहां ऐसा मानते हो तो जितना सुख लाभ है हमारे को वहां भी यही मानना पड़ेगा फिर हम पुरुषार्थ भी क्यों करेंगे जो हमारा कर्म होगा मिल जाएगा हमारे को ये ऐसा दुष्चक्र है उसमें गए आप तो बिल्कुल धस जाओगे कीचड़ की तरह से निकल नहीं सकते अयुक्ति संगत अव्यवहारिक शास्त्र विरुद्ध चीजें आएंगी और हमारा देश उत्साह पराक्रम से हीन इस कारण भी हुआ हमारा भाग्य ही ऐसा है हम तो हमको तो दलित ही रहना है हमारे को तो पीड़ित ही रहना है हमारा भाग्य ही ऐसा था कि अंग्रेज इतना गुलाम बना गए हमारे को हमारे पे राज कर गए उनके पुण्य थे हमारे पाप थे इत्यादि बातें तो अन्याय अत्याचार को कभी भी इस रूप में हम नहीं मान सकते ऐसा मानेंगे तो धर्म और अधर्म भी दो चीजें नहीं रहेंगी अधर्म क्यों कहोगे आप उसको अधर्म कोई है ही नहीं फिर तो जो जो हो रहा है वो परमात्मा करवा रहा है और जो जो पीड़ित हो रहा है वो उसके कर्मों का फल है सब गटमट होगा वो व्यवस्था नहीं बन सकती युक्ति संगत नहीं है इसलिए यही मानना होगा यदि कोई व्यक्ति कर रहा है गलत तो उसके द्वारा किया गया कर्म है इसका फल वो भोगेगा और उससे अन्यों को जो कष्ट आ रहा है वो इसके कर्म का गलत कर्म करने वाले का परिणाम है या प्रभाव है उसको फल नहीं कहते ईश्वर की व्यवस्था से न्याय वहां भी होगा पूछे तो जो उस योग्य व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली उसके अन्याय के कारण साक्षात्कार का जो कर रहा था उसके कारण न्याय नहीं मिली तो क्या उसकी क्षतिपूर्ति कोई करेगा क्या परम, कुछ परमात्मा करेगा बिल्कुल करेगा मैं फिर बताता हूं दो बात रखी थी समाज यदि क्षतिपूर्ति कर देता है तो फिर परमात्मा को करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन समाज ने क्षतिपूर्ति नहीं की जैसा इनका उदाहरण है वो बेचारा जिंदगी भर ऐसा ही रहा आगे अवसर ही नहीं मिला यानी उसकी आयु हो गई या इत्यादि कुछ भी हो आगे कोई अवसर नहीं मिला उसको संपूर्ण जीवन में बहुत हानि हुई दुष्प्रभाव हुआ तो इसमें दो विकल्प हैं अब क्या होगा पूरी तरह ठीक ठीक तो परमात्मा ही जानता है लेकिन परमात्मा न्यायकारी है इसलिए परमात्मा यहां भी न्याय करेगा ये तो हम निश्चय से कह सकते हैं और वो न्याय क्या हो सकता है तो दो बातें एक तो इसको जो सुख सुविधाएं मिलनी थी आगे अनुकूलता होनी थी जो छिन गई उससे ये अनुकूलता परमात्मा बाद में उसकी दे देगा पूर्ति कर देगा एक एक तरीका दूसरा तरीका कि इसको जो कष्ट हुआ है वो कष्ट जिन पाप कर्मों का फल हो सकता था कि इतना कष्ट हुआ तो यानी इतना पाप का फल ये माना जाता या इतना पाप किया होता तो इतना फल दुख इसको मिलता उतना पाप उसके कर्माशय में जो अभी है पाप तो रहते ही है सबके बहुत रहते हैं वो भोग लिया हुआ माना जाकर के कम हो जाएगा ये भी उसके साथ न्याय है कि जो कर्माशय में पाप था जिसका फल उसको कभी आगे भुगतना होता ईश्वर अपनी व्यवस्था से देता अब दूसरे ने किसी ने दे दिया है तो उसको भुगता हुआ मान करके कम कर दिया जाएगा ये दो संभावनाएं हैं न्याय अवश्य होगा संसार में नहीं होता है लेकिन परमात्मा की तरफ से तो न्याय अवश्य होगा पीड़ित हुआ है उसको भी जिसने गलत कर्म किया है उसको तो दंड मिलेगा ही उसका तो न्याय होगा ही जो पीड़ित हुआ है उसके साथ भी न्याय होगा परमात्मा के यहां दोनों के लिए न्याय होता है सुकामा जी तो तो आपका जो वचन है वो पहला वाला वाक्य है वो सिद्धांत नहीं है आपका कहना है कि परमात्मा भी यदि फल देगा तो किसी मनुष्य के माध्यम से ही तो देगा ऐसा नहीं है परमात्मा किसी के माध्यम से फल नहीं देगा मनुष्य के क्योंकि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है वो परमात्मा भी अपने उस नियम को नहीं तोड़ता उसने मनुष्य को कर्म करने में स्वतंत्र बनाया है वो अपने बनाए नियम का पालन करता है वो जबरदस्ती किसी से कोई कर्म नहीं करवाता परमात्मा के द्वारा फल कैसे दिए जाते हैं वो जन्म के साथ भी होते हैं जिस परिवार में आया उसके साथ होते हैं लेकिन परिवार में जन्म लेकर के परिवेश में जन्म लेकर के अन्यों के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं स्वतंत्रता से अच्छे या बुरे उसके अनुसार परमात्मा उनके कर्माशय का भोगा हुआ माना जा करके संतुलन करता है और हमें जो परमात्मा कर्मफल देता है वो अंतर्यामी रूप में देता है जिंदगी के बीच में जीवन के बीच में जो कर्मों का फल देता है उसका एक उपाय क्या है कि मस्तिष्क में हमारे सत्वर स्तंभ की स्थिति को ऊंचा नीचा करके उसका नियंत्रण है वहां पर वो कर सकता है हमारे उस तरह के संस्कारों को उभार करके कर्म के अनुरूप वो व्यक्ति वैसे ही चलने लग जाएगा कर्म की स्वतंत्रता फिर भी है उसकी जैसे साधनों की न्यूनाधिकता से फल दिया जाता है शरीर की न्यूनाधिकता से ऐसे ही बुद्धि की न्यूनाधिकता से भी फल दिया जा सकता है और जैसी बुद्धि है उसके भी स्तर में न्यूनाधिकता करके फल दिया जा सकता है उस रूप में दे सकता है परमात्मा तो मुख्य रूप से तो हमारे को जन्म के साथ ये ये शरीर मिला ये माता पिता मिले ये परिवेश मिला उसके साथ फिर बाद में परिवर्तन भी होता है तो किसी मनुष्य के माध्यम से परमात्मा यूं फल दिलाता हो जब जब भी दिलाना है दूसरे मनुष्य के द्वारा ही दिलाता हो ऐसा नहीं मान सकते सब जगह हाँ परमात्मा दूसरे के द्वारा फल दिलवाता है हाँ। तो वो भी एक पक्ष कह सकते हैं लेकिन ये भी तो एक सामर्थ्य कह सकते हैं वो कि वो दूसरे के द्वारा भी फल दिखा सकता है और आप उल्टा करो तो क्या कह सकते हो कहने को कुछ भी कह सकते हैं वो यू कह सकती है कि यदि परमात्मा खुद ही देता है और दूसरे के द्वारा फल नहीं दिला सकता तो उसकी कमजोरी हो गई ना कि दूसरे के द्वारा नहीं दिलवा सकता अब यू कहने को तो कुछ भी कह लो तो परमात्मा खुद समर्थ है दे सकता है वो आपकी बात ठीक है लेकिन दूसरों के माध्यम से भी फलों का लिया जाना दिया जाना होता है वो व्यवस्था से होता रहता है और उसके अनुसार परमात्मा कर्माशय में न्यूनाधिकता कर देता है लेकिन परमात्मा ही वो करवा रहा हो ऐसा नहीं निर्धारित नहीं है वो लेकिन जैसा हो गया जैसा हमने भोग लिया सुख दुख साधन मिलना साधन छिनना उसके अनुसार हमारा खाता कम होता रहता है जितना हम करते जाते हैं बनता जाता है भोगते जाते हैं कम होता जाता है वो नियम से परमात्मा की व्यवस्था से होता है ऐसा ठीक है और कोई प्रकाश जी परमात्मा बीच में बुद्धि आदि चल इच्छा करके कम फल देता है दे सकता है, सकता है। देता है हाँ तो उसमें जीव की परतंत्रता की संभावना है कोई परतंत्रता नहीं है कर्म करने में वो फिर भी स्वतंत्र है साधन में न्यूनाधिकता की है जैसे परमात्मा विभिन्न शरीर दे के कर्म का फल देता है किसी को हाथी बनाया घोड़ा बनाया मनुष्य बनाया अब मनुष्य बनाया अलग अलग शरीर दिए उससे कर्म की स्वतंत्रता थोड़ी छीनी है साधनों में न्यूनाधिकता वो कर सकता है करता है वो जैसे शरीर में करता है धन संपत्ति में भी ऐसे परिवार में जन्म तो बुद्धि के स्तर पर भी करता है ऐसी बुद्धि मिलती है ये तो जन्म से हो गया और जीवन चलते चलते भी कर्माशय के कारण से जो आवापगमन है पाप या पुण्य कर्माशय बीच में आके फल दे रहा है उससे भी अंतर आएगा क्षमता कम हो जाएगी इससे कर्म की स्वतंत्रता नष्ट नहीं होती है हम करने में उतने समर्थ नहीं रह पाते यही बात है बस हमारी जागरूकता नहीं रहेगी और हम गलत निर्णय ले लेंगे और दुख पाएंगे कर तो स्वतंत्र रूप से ही रहे हैं लेकिन अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे और फल को मिल जाएगा हमारे को और कभी हमारी बुद्धि ऐसा काम कर जाएगी कि एकदम ऐसा सही निर्णय होगा कि उसके कारण से हमारे को बहुत लाभ हो जाएगा इतनी जागरूकता से बुद्धि में सात्विकता बढ़ा दी एकदम ठीक निर्णय हो गया बाद में आश्चर्य होता है कि मैंने ये निर्णय कैसे कर दिया मेरी को तो समझ ही नहीं थी और उल्टा भी होता है कि मैं तो सब जानता बूझता था ये गलत निर्णय कैसे हो गया सब समझता था मैं तो बाद में सोचते हैं तो ये जो बुद्धि में परिवर्तन आता है जागरूकता कम हो जाती है जागरूकता बढ़ जाती है ये कर्माशय वशात हमारी बुद्धि में ज्ञान के स्तर में न्यूनाधिकता होगी ये परमात्मा की व्यवस्था से होती है इसमें कर्म की स्वतंत्रता फिर भी समाप्त नहीं होती है तो बीच में भी परमात्मा कर्माशय का फल देता है योग दर्शन व्यास भाष्य से जो अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाकी कर्म अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाकी की तीन गतियां बताई हैं उसमें एक जो आवाप गमन है बीच में कोई कर्म का फल मिल रहा है उसी के साथ साथ वो फल दे जाना है वो देता है बीच बीच में आता है और कैसे देगा तो यही समझ में आता है सीधे सीधे रोटी दे देना वस्त्र ला के दे देना ये तो होता नहीं है परमात्मा के द्वारा नहीं होता ये ठीक है आप पूछ रहे हैं अगर कोई पाप का मत हो गया और मुझे पता चल गया कि मैंने ये पाप हो गया मुझसे क्या ईश्वर क्या दंड मैं सौंप ले सकता हूँ ले सकते हैं जिसे हम प्रायश्चित के रूप में कहते हैं हम समझते हैं और हम यदि दंड लेते हैं तो जितना हमने दंड लिया है जितना उसका दंड होना चाहिए था उसकी अपेक्षा हमने जितना ले लिया जो बच गया उसका परमात्मा देगा दंड माता पिता दे सकते हैं गुरुजन दे सकते हैं न्यायाधीश राजा दे सकता है समाज दे सकता है उनके द्वारा दिया गया दंड कम है तो बचा हुआ परमात्मा दे देगा उतना घटा के यदि इन लोगों ने अधिक दंड दे दिया है तो उन्होंने अन्याय कर दिया तो जितना उस कर्म का दंड था वो तो भोग लिया अतिरिक्त जो दंड भोगा गया उसमें फिर परमात्मा का नियम काम करेगा न्याय काम करेगा जो पाप कर्म है पहले से उनको घटा देगा या क्षतिपूर्ति करेगा ऐसा समझ जी इससे भिन्न भिन्न प्रकार के पाप कर्म है चोरी क्रोध और इससे बड़े बड़े भी तो कैसे पता चलेगा कि किस पाप कर्म जो हमने किया है उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं तो किस रूप में लें कैसे ज्ञान होगा इसकी कोई ये उनके प्रश्न पे प्रश्न आपका आया है अभी है कभी इस प्रायश्चित पे मैंने वैसे एक बार बात रखी थी आपके सामने विस्तार से है प्रायश्चित वाले विषय में प्रायश्चित कितना होना चाहिए कैसा होना चाहिए शायद सुकामा जी का था प्रश्न किसका था तो हमें आपका कहना है कि हमें कैसे पता लगे कि कितना दंड है या नहीं है स्वयं को लेना है प्रायश्चित कैसे नहीं पहले हमें कैसे पता लगे कि मैंने कितना बड़ा कर्म किया है और उसका क्या फल होना चाहिए तभी तो हम उतना प्रायश्चित लेंगे तो ये हमें पता नहीं लग सकता प्रायश्चित क्या करना चाहिए कितना करना चाहिए उसके लिए मैंने विस्तार से एक बार बताया था एक तो कि दोबारे नहीं हो एक हमारे अंदर उस बुरे कर्म के लिए जो ग्लानी है कि मैंने ये पाप कर्म कर दिया वो ग्लानी मिट जाए हमारी इतना प्रायश्चित किया जाता है और दंड के रूप में हम ले रहे हैं तो ले सकते हैं कम या अधिक हमें कोई निर्धारण नहीं है मेरे को एक बार का ध्यान आ रहा है दर्शन योग महाविद्यालय में जब हम लोग पढ़ते थे तो प्रायश्चित लेने करने की ये सब बात चलती थी दंड लेना चाहिए तो मेरी जो दृष्टि थी वो ये थी कि भाई मैं तो इसको परमात्मा पे ही छोड़ता हूं मैं <laughs> मैं कोई दंड नहीं लूंगा जितना होगा परमात्मा दे देगा अब मेरे को तो पता ही नहीं है मैं कितना लू क्या लू बस ठीक है मैं आगे सुधार करूंगा और लोग लेते नहीं दंड लेना चाहिए मेरे तो समझ में नहीं आ रहा मैं कितना लू क्या लू जैसे आप पूछ रहे हैं तो मैं दंड नहीं लूंगा अपने को सुधारने के लिए जो करना है वो काम करूंगा लेकिन मैंने गलत किया है और उसका मैं दंड लू समाज की व्यवस्था से जो मिलता है मिल जाएगा लेकिन मैं नहीं लूंगा परमात्मा अपने आप दे देगा ना जितना है वो न्यायकारी बैठा ही है कम या अधिक जितना है वो ठीक ठीक दे देगा मेरे को मेरे को बीच में हस्तक्षेप करने की क्या आवश्यकता है दंड लेने के लिए ऐसा मैंने वहां पर बोला था सब आत्मनिरीक्षण जैसे अभी ये आत्मनिरीक्षण के बाद चर्चा होती है उसमें थी तो मैंने मेरे कई दिनों से ये विचार उठ रहा था कि भाई सब पर कोई ये प्रायश्चित लेता है कोई ये लेता है मैं तो लेता ही नहीं हूं बहुत कम प्रायश्चित में कभी करता था नहीं तो नहीं करता था दूसरे लोग काफी करते थे ये दंड ये दंड ये दंड ऐसे इत्यादि हाँ मैं ये सोचता था कि ये जो गलत कार्य हुआ है नियम भंग हुआ है इसको हटाने के लिए संस्कार ठीक करने के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए कि आगे ये त्रुटि ना हो दंड जो होगा वो मिल जाएगा तो आप छोड़ भी सकते हैं ये हमारे लिए अनिवार्य नहीं है कि हम दंड लें ही अनिवार्य नहीं है आपको अनुभव होता है कि मैं लेना चाहिए तो ले लीजिए प्रायश्चित ले लीजिए उतना कर्माशय कम हो जाएगा आपका और कितने लोग अपने पाप कर्माशय को कम करने के लिए बड़े बड़े दंड लेते हैं बड़े बड़े तप करते हैं कर्माशय घटाने के लिए भूखे रहेंगे प्यासे रहेंगे वो भी मेरे मन में चित्र था कि पाप को कम करने के लिए ये लोग भूखे रहते हैं महीनों अनेक लोग मत संप्रदायों में है ऐसा कहीं ऐसा ना कर लें हम कि शरीर के साथ अन्याय अत्याचार करके एक नया पाप कर्म कर लें हो सकता है ना तो परमात्मा पर विश्वास करके परमात्मा पर छोड़ दिया ठीक है और वैसे हम पता भी नहीं लगा सकते कि इसका ये फल होगा हम नहीं लगा सकते समझे जी दूसरे अधिकतम दे देते हैं हम्म। उसका तो परमाणु संतुलन कर हाँ स्वयं से ही अधिक दंड लिया गया उसका क्या है उसका दंड देगा ना यही तो मैं कह रहा था अगर हमने स्वयं अधिक दंड ले लिया उसकी कोई क्षतिपूर्ति नहीं होगी उसकी कोई क्षतिपूर्ति नहीं है अज्ञानता से हमने अपने साथ अन्याय किया हमने अधिक दंड ले लिया हमारी अज्ञानता है हमने हमारा नया कर्म कर लिया हमने प्रायश्चित जितना करना है सुधार के लिए वहां तक ठीक है उससे आगे नहीं केवल दंड लेने के लिए नहीं और क्षतिपूर्ति का सिद्धांत वहां लगता है जब हमने अपना पूरा प्रयत्न किया हो और फिर भी दूसरे ने अन्याय कर दिया हो यदि हमने प्रयत्न नहीं किया अपने सामान की रक्षा नहीं की और दूसरा चुरा ले गया हम क्या क्षतिपूर्ति करेगा वो हमने जो असावधानी की अब क्षतिपूर्ति होगी तो कम होगी ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए हमने ठीक सब कुछ किया है और फिर भी कोई अन्याय कर देता है तो क्षतिपूर्ति होगी नहीं तो उतना उतना दोष हमारा भी बनेगा असावधानी का अजागरूकता का अज्ञानता का अगर अज्ञानता से कोई अधिक दंड ले लेता है प्रायश्चित के नाम से और उसके कारण शरीर को बाधित कर लेता है व्यर्थ कर देता है शरीर को गलत करता है उसका कोई उसकी कोई क्षतिपूर्ति नहीं होनी है हानि कर ली कर ली उससे उसका कोई पाप कर्माशय नहीं घटेगा ठीक है तो मूल विषय तो आपका हो ही गया है इतर प्रश्न भी कुछ हो गए इतना ही रखें मंत्र पाठ